निर्भर कभी हुए बड़े यहाँ ऐसे नहीं कि जो जैसे करके अपना कविता बनाया करते हैं वास्तव में महात्मा जो बड़े बड़े सच्चे महात्मा थे कविता की प्रतिभा भी નાવલ મોરી હાંઢની બોધી પાથર છે ના एक ही हे भगवान मेरी नाज है क्या है नाजिक मन से छेद हो गए चारों हमारी इंद्रिया जो है जर्जर की हो गई है इनके छेदी खेद मैंने कोई भी चीज अगर सड़क से जाओ तो निकल जाती है तो क्या होता है पानी नाव नदी में नाव है तो क्या होगा उसमें पानी भरने लगेगा कि नहीं लगेगा नावरी मोरी ध्यान और महाराज देखिए बोझी पाथर पत्थर का बोझा इसको भरा हुआ है पत्थर क्या चीज है अनेक जन्मों के नगन असंख्य कर्म के संस्कार और हे प्रभु जरा बता दीजिए चौदित हैं भौरे सब भौरा होते जैसे एक बात आवत में क्या कर वंशु क्या कर हैं तो जैसे पानी का ऐसे करके मंगाता अगर उसमें नाव पर जाए तो ग्राह कि चार और एक नहीं हमारा चार और ये चार और जैसे कि देखिए उसको महाराज क्या हाँ, आसक्ति जो है मानी आसक्ति जो है वो नीचे चीज को डुबा देती है अपनाना कह आसक्ति किसी चीज के अंदर जो आसक्ति होती है ना वो बिल्कुल दुबाही देगी निश्चित रूप से वो आगे कभी भी बढ़ने देगी नाव को आगे जाना चाहिए पर वो नाव को आगे बढ़ने नहीं देगी आसक्ति क्योंकि हमारे मैं प्रत्येक और हमारी आसक्ति घटी हुई है केवट है मतवा केवट जो है मन रूपी जो मल्ला है ये मतवाला हो रहा है शराब की करके इसको होश नहीं है कि किधर डांस करना चाहिए किधर इसके नाव में छे तुरंत हमारे मेरे संसार के प्रति पानी मिला और रखी जैसे घुस जाते और पत्थर कर्मों का संस्कार का बोझा बहुत अधिक है और चारों ओर जैसे ये भौरे आसक्ति से ये जो गर्त बने हुए हैं पानी तो इस नाव को आगे बढ़ने नहीं दे रही है तक जाने के लिए तो बचा के ले चलना चाहिए पर मजा रहा होगा करके दुश्मन का नकाइश अधिक चढ़ा हुआ है भैया कहीं भी तो नहीं भाग्य वर्ष है मतवार है मतवार नाव मझधा रही ने बिल्कुल नशे में भरा हुआ मतवाला जैसे मल्लाह क्या करे कि जहाँ पानी बिल्कुल बीच धारा में कि जिसको किसी प्रकार कब्जे में न लाया जा सके मन ऐसे जीवन की आसक्ति का प्रवाह मैंने आसक्ति का प्रवाह मन जीवन में कामना या वासना कर रही इतना जैसे कि जवान होती चली जाए मन क्या होता है मन को समझता नहीं हमारी कोई सी इच्छा जगी और उसकी अगर पूर्ति हुई तो निश्चित रूप से महाराज रहा है विभूति क्या होगा और बल आ जाएगा कोई सी बात ना जगी गंदी हो चाहे अच्छी हो अगर की पूर्ति होती जाएगी तो उसका बल अधिक पहुंचा चला जाएगा माने तो जवान होती चली जाएगी बात तो जवान में बहुत ताकत होती है बूढ़ा आगे चला ये बच्ची मतलब तो <clears throat> बचपन की जैसी खुशी वासना की पूर्ति करते करते केवट है मन नाव केवट है मतवार नाग मझधार आंधी उठे प्रचंड से पर बरसत पानी उधर तो बड़ी भारी आंधी आ रही है आंधी क्या चीज है ये खुशियों का आकर्षण है विधान से अन्य राम भगवान घुसनाथ शास्त्री के लोग देखिए आप लोग जाते हैं शहर में तो तो तो ये हमारी ये हमारे पास से यात्रा अरे ये देखो मोटर मेरे जो हवाई जाने राम कह करके जाती है हमारे पास ये माने ये क्या है कि विषयों का एक प्रलोभन जो है आदमी की तरफ से चार वो चपेट रहा था कभी इधर सचेत के ले जाएगा नाव हाँ, को तो बल्ला के मन को कभी उधर कभी उधर आमी उसे प्रचंड प्रचंड आंधी आ रही है मन आकर के बक्का चल गया विष्णु पानी ऊपर माया जो है माया क्या करती है शरीर मम माया जो बड़ी भारी ये दुष्कर है माया का जहाज देखिए माया ही मन भगवान माया मन माया मन जो ना हुई और तो हो रही है जो की और दिन रात परेशान करती रहती जैसे कोई देखिए माया जो है ना इसकी कोई शक्ति नहीं है मन भूत है ये है सरासर की कल्पना होकर तो बड़ी बेबसाबनी की गई वर्णन जैसे किसी के पास भेड़ हो तो तो भेड़ बकरी हो और हजारों बकरी पर अगर एक भेड़ बकरी भी कोई निकल करके कहीं दूसरी पेड़ी में चला जाए चली जाए तो सारी शक्ति वो भेड़ वाला लगा देता है कि कोई नहीं किया जिसको जैसे प्रशिक्षण तो लेकिन वर्णन आता है कि जब मनुष्य भगवान की ओर परमात्मा की ओर चलने लगता है तो माया अपनी सारी शक्ति लगा देती कि अरे ये तो अपनी माया के पार चला जाएगा इसको फिर से ऐसे लेकर कुछ पता कहीं निकल न जाए जैसे देवा यही उदाहरण दिया है जैसे वो भेड़ वाला अपनी सारी चेष्टा लगा करके क्या कर ये तो पार लग जाएगा ये चीज हमारे राज्य से बाहर चला जाएगी इस पर तो हमारा कब्जा नहीं होगा तो तेल ऊपर बर्फ का पानी माया जो डुबाने वाली शक्ति की नाव में अगर पानी भर जाए तो असल में माया माया का प्रभाव मैंने माया का अर्थ है कि तरह तरह के ज्ञान तरह तरह की भ्रांति चारों ओर से हमको घेरे चली जा रही है पानी मैंने डुबाने का कारण का नाम तैयार एक तो हमारी नाव में खेल माने हम क्या हमारे अंदर कोई सी चीज घट कर कुछ तो कोई पानी पहुंच कोई सी चीज है गंदे संसार के बुरे सब बाल को सीख नहीं सकते किसी खेल पत्थर का बोझा कर्मों के संस्कार से महाराज इतनी नीचे दब गई है कि पानी जैसे अगर एक हल पालों से डूब जाए और कहो कि हाँ, हमारे क्या वो महाराज आसक्ति के गर्त बन रहे कि नाव भाग डूब गए मेरी दिन मैया डूब गए केवल मल्ला शराब के से मन को विवेक नहीं रह गया उसको ये पता नहीं कि हमको किधर चलना चाहिए कैसे हम नाव को और धारा में जहाँ खूब अच्छे तरह से मन जम भी है मन जहाँ बिल्कुल जवान के साथ सब होकर कहते से दबोचे जा रहे हैं और आंधी दुश्मनों का प्रलोभन चारों ओर से हमको घेर रहा है अब पानी माया अपनी सारी शक्ति लगाए जा रही है कभी कैसे जाओगे बेटा देखते हैं कि कैसे पार लगेगा तुम कैसे भगवान को जाओ ऐसी स्थिति में जब भगवी महाराज कभी थे और महात्मा शिव अनुभव करते थे रुपए कहा फिर घर आए मैं महाराज मैं कवियों का राजा तो हूँ परंतु मैं क्या कह रहा हूँ जरा सुन लीजिए कहा फिर घर कबिराए माथो तो तुम ही खड़ैया अब हे नाथ अब दया करके मेरी नाव खेलने के लिए तुम आ जाओ हमारे दया करके तुम आ जाओ और उठे दया की डांड अब घाट पर आवे नैया दया की डांड एक में से चल जाए और मेरी नाव किनारे बन जाएगी भगवान देखिए महाराज बाप बहुत सुंदर बहुत आज के जमाने में किसी निश्चय पर अडिग रह करके आप दो कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हाँ ठीक है तो संसार के सभी लोग करते हैं करने में क्या पाप है हम देखिए ना वो करते हैं वो करते हैं अभी तक तो करना नहीं दवाई खाती है दवाई खाने में कट्टू क्यों नहीं खाया ले जाए हम बीमार हैं कट्टू से फायदा होता है दस तरह की जुक्ति लगा करके आप उसी रास्ते जाइएगा जिस रास्ते से आपके जीवन में अशांति बढ़े आपके जीवन में बड़ी बड़ी निराशाएं बढ़े आपके जीवन का रास्ता गड़बड़ आ जाए जंगल के बिहार पथ में जाकर के बिल्कुल जैसे कहना कि दाखियों हिंसक पत्नियों के बीच में आप चले जाए मैं आप मृत्यु की ओर चले जाए तो क्या है निश्चय आपका जरूरी जैसे है जैसे इधर झुलमुल इधर से उधर उधर से उधर चलते जाए ऐसी स्थिति में क्या उपाय क्या है बिल्कुल सच्ची बात है कोई व्यक्ति करके दे सकता है उसको कैसे करूँ वो करेगा भी तो कुछ मत करोगे हाँ जो मन में आवे करो अगर सच्चे हृदय से वो पुकारना चाहिए तो हाँ मैं अपनी शक्ति से मैं आपको नहीं पा सकता आप ही दया करके हमको संभाल न उसमें कोई ताकत लगती है न जोर लगती है तो क्या माँ जोर लगता है न ताकत लगती है न कोई इसमें लुहा को जैसे न माला लेने की जरूरत है न ध्यान करने की जरूरत है बाथरूम में चट्टी का बैठे मन ही मन पुकाई है ना मैं अपनी शक्ति से आपको तो नहीं पा सकता प्रभु नहीं पा सकती आपकी दया करके अपने हक की दया से मुझे संभाल लीजिए कैसे चले जाइए भगवान नित्य थे नित्य हैं नित्य रहेंगे लेकिन क्या होगी उनकी आंखें खुलेगी उनकी क्रियाशील शुरू हो जाएगी और ऐसा संयोग लग जाएगा कि बाध्य होकर के आप भगवान को बढ़ने लगेंगे और आपके जीवन में अच्छा लग जाएगी महाराज आपके दुख का अंत हो जाएगा कोई सर्विस में तो हमारी कैसे होगा देखिए महाराज लड़की की विवाह का पत्नी है हम देखिए महाराज क्या करें महंगाई बहुत अधिक बढ़ी हुई है देखिए साहब हमारा बॉस बड़ा टेढ़ा है बड़ा तंग करता है हमको देखिए हमारे महाराज चोरी चली गई हम रात में देखिए महाराज वहाँ पर हमको ऐसा जोर से हमारी साइकिल छीन गई न जाने किस शक्तियों के जाल के बीच में आप चलते प्राण काटने लगता है फिर जाने पता नहीं महाराज चोर हो सांप हो बिच्छू हो पद पद पर शांति के विवाह तक नित्य आपको चारों से घिरे रहते हैं ये सब के सब जैसे खाने की दूरी की तरफ से उड़ जाए और जीवन में कहीं ऊहा को न हो भगवान कृपा का एक कण भी आप में व्यक्त हो जाए तो। अब तक तो नहीं हो महाराज आप कहा दो नाव का पार करना चाहते हैं आज तक पारी नहीं तो भगवान के हाथ में अपनी नाव मैं अपने ही शक्ति से कहू आपको नहीं पाऊ आपको नहीं पाऊ आप ही मुझे संभाल लीजिए सचमुच सचमुच जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को रोती रोता देख रहे तो क्या करें लाठी लगा लेते हैं आँख उपचारती है तो खिलाती है दूध पिलाती है अनंत माताओं का हृदय प्यार से भरा हुआ है और प्यार कौन देखा जाए एक रख लिया जाए और भगवान के कृपा समुद्र एक मूल्य रख लिया जाए अनंत माताओं का प्यार ही देखिए बहुत अच्छा ध्यान भगवान कहते हम कहते दूसरा तो आप काम कि आप हैं दूसरा काम कर ना सीखे हमारी कुछ भाषा सीखने की जरूरत नहीं चीज की जरूरत नहीं सोचने बोली बच्चा अपने आपका काम न हो तो अवश्य होकर के रहे आप क्योंकि भगवान सत्य के सत्य के सत्य वस्तु हैं उनको कोई किसी की मान्यता से भगवान बढ़ जाते हैं प्राणों का एक विश्वास लेकर स्वीकारित रहना उनका वरद हस्त सबसे ऊपर रहता है सूर्य की किरणें सबको आने की मैं भूखी भूखी नहीं हूँ केवल प्रश्न के लिए जो सजा तो उनका समाधान भी तो मैं करने से पर अगर सचमुच उनकी भोगा शक्ति उनके अंदर है या उनके ऊपर कौन कर सकता है साथ साथ कल जीवित तो रहूंगा कल का सूर्योदय देख सकूंगा क्या किसका है कह सकूंगा काफी दिन कितनी तो हाजिर हाथ खेल जैसे जैसा महात्मा होता है तो जब हमारा जीवन इस प्रकार काल के प्रवाह में बहता हुआ मृत्यु की ओर जा रहा है तो हम क्यों नहीं अपना इंतजाम करोगे वहाँ के लिए जहाँ आगे चले ही जाएंगे मैं शरीर को छोड़कर तो मुझे जाना ही पड़ेगा भगवान ये निरंतर आपके साथ थे हैं और रहेंगे उनका अनंत पर प्यार आपके साथ था है और रहेगा

वाग्बपुर्भिर्विदधन्वीरेति मुक्तिपदेशदाय आपको कहता है कि अरे भाग आप आंखें मुक्त बड़ी क्या से आपके हमारी आंख आप सब के सब भगवान हैं सबको मिल कहा जीवन में कहीं पर भी मैं भगवान की कृपा का आश्रय करने वाले को निराशा नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी कोई यहाँ का बड़ा आदमी होता उसका हृदय इतना विशाल होता है उसके आगे हाथ पका के देखी वो कभी ना नहीं कहेगा और जो सर्वसमर्थ है निरंतर आपके साथ है अनंत पर शक्ति लेकर के आपके साथ है और कहने की भी सारी स्थिति का होता है और लाख नाराय की हो सकती है तो उसके मन में आपके प्रति जो प्यार है एक क्षण भी उसके आगे हाथ के अगर आप कहें अपनी शक्ति से आपको आप ही कृपा करके अपनी है चुकी दया को मुझे करना चाहिए तो क्या उसके मुझे तो निराशा आई मैंने तो सब लेकर देते छोटी बच्चे को चढ़ा करके वहाँ ले जाती है उसकी अपेक्षा ना उनसे बुने प्यार से भगवान ऐसे क्या आपके क्या होता है आपके काम इसलिए नहीं आते कि आपके तो रोटी खाई ऑफिस गए यहाँ तो तो गए वहाँ <laughs> गए जैसे बैठ सकते के लिए हम मेरा क्या करें क्योंकि मैं दया की आशा लगाई मेरा कहना है कि कृपा की आशा लगाई अवश्य आएगी कृपा कभी नहीं देखती सकती कितना नालायक है कैसे इसके जीवन में क्या इसने किया है वो वर्तमान देश में भगवान की कृपा चलो अपने प्रवाह में बात करते हैं तुम्हारा जीवन क्या समझ नहीं लकड़ी जैसे हमने किसी घाट पर उसको ना निकाला जाए तो बस किनारे होती यहाँ मान लो कि ये नहीं पर भगवान की कृपा का हमने विवरण दिया था तो भगवान की कृपा जब एक बार चल पड़ती है किसी जीव पर तो वो कभी रुकती नहीं पिता क्या है अहंकार का पर्वत आगे रहता है तो जैसे यहाँ की नदी तो बाएं दहीने होकर के निकल के चल देती है इसीलिए नदी से ही मिल जाती पर भगवान की कृपा जब आगे अहंकार का पर्वत मिलता है तो वो क्या करती है जैसे तो वहीं पर खड़ी हो जाती है और वो ऊपर की ओर उसमें बैठती है मैंने एकत्रित ऐसे यूं ऊपर ऊपर से ऊपर न्यो न्यो जैसे पानी बढ़ता चला जाता है ना उसकी जो भी चीज गंभीर होती चली जाती है ऐसे ऐसे ऐसे चलते चलते अंत में वो अहंकार के पर्वत को डुबा करके ऊपर से बन चलेगी कृपा आपको डूब जाएगी अहंकार कहाँ गया सब धाम आपका हो जाएगा कृपा कभी धोखा नहीं देगी कृपा कभी आपको छोड़ करके नहीं जाएगी की भाषा उपाय यह है कि आप उसका आवाहन कीजिए निमंत्रण कीजिए आओ जरूर आप और तो अपनी कृपा नहीं प्रभु तैयार रहते हैं हम अपना हम अपना ऐसे ही बात ही याद नहीं आती

के बाद जीवन की ऐसी दशा होती है हाँ हाँ देखिए हाँ, तो और हमने तो किया भगवान की कृपा ऐसी अपने आप को तो कहीं हमारे बैठा इतने बड़े पढ़ बहुत कम लेते हैं और बड़ी भारी जमींदार को इधर उनके जीवन का वक्त कभी मानते थे जीवन का बड़े अच्छे हकीम थे हकीम कहाँ बन गई बन गई बन पर से अब याद नहीं है इसमें लगा कभी कभी कहते तो मस्त है यार इसमें लगा कभी कभी तरफ अगर तुमको पता लगता है कि सामने जो दुश्मन तुम्हारा पत्नी है वो तुम्हारा बड़ा ताकतवर है तो तुम ये सोचो तुमने कहा वहाँ करीब इसकी अपेक्षा जो तुम्हारी रक्षा करने वाला संभाल करने वाला कहीं याद था करते और सच्ची बात है कि तो आंखें बदली हैं आप माया के प्रभाव में मारने वाले के अंदर बचाने वाला छिपा हुआ है आप उसे निकाल दीजिए हाथ पकड़ के करिए कहाँ क्या बात है न कोई चोर है न कोई बदमाश है न डाक मारने वाला गुहा पर छुरा लिए चला है देखो या डंडा लिए या कुछ कर अंदर आपको बचाने वाला उनको पहचान लीजिए यार क्या बात है क्या बाबा जी ये सब खाली करने की बात करने की बात नहीं है महाराज जीवन के कण कण में करके देखा है मेरे और ऐसा ही दादा है अब बैठो तो तुम बोलो ना यार खाली लपन लपन देखो भाई ये जो बड़ी बात बड़ी खाई में बड़े तेज हो यार हो जाएगी अब अब तू कर सके कहा अब आज से देर हो जाएगी ना देर हो जाएगा कल से यार भजन सुनेंगे हम्म। के साथ चली गीता के यात्रा ट्रेन चली उसके बाद घूमते हुई लोग कलकत्ते में आकर के उसका विराम हो तो कलकत्ते में हम लोग ठहरे थे तो मिलने वालों की दूरी इतनी अधिक हो गई थी कि बड़ी कठिनाई से मिलना संभव रहा था मैंने दिन भर मिलते मिलते मिलते करीब चार बज गया था एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी थे उनकी मृत्यु हो गई उनको लगभग हमसे मिलने के लिए आए थे बेचारे जब दो घंटा उनको बैठना पड़ा उनका हो गई और देखा कि इतनी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी तो हमारे मन में कुछ सवाल है मैं तो बिल्कुल मस्त आनंद फकीर हूँ महाराज हमको तो कोई दुख नहीं बड़ी हंसी आई उसकी बात हमने उनका नाम काफी जान पहचान थी हमने कहा देखी महाराज महाराज तो मत है मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके कलेजे में जल रही हो और आप ऊपर से बनाव की व्याख्यान दे रहे हैं हमारे सामने की हमें तो कोई दुखी नहीं माना कहिए मत कहिए हमको अगर आपको देर होगी जो दो घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी इसका ये अर्थ नहीं कि हमारे सामने अपना गुस्सा निकालने के लिए बनावटी बात बात तो हैं आप मत बात करना देर होगी क्या ये समाप्ति क्या तो बेचारे हम देखा ये साधु बड़ा अरियल टप्पू है इसको थोड़ा सा कौन बाबू ऐसी बात है फिर अपना कहने लगे तो सचमुच सचमुच उनके अंदर इतनी दशा भरी हुई मुझको मिली कि राम राम राम राम वो कम से कम शहर उनके जमाने में लोग होंगे से चौवन की बात मेरा अपना ख्याल है कि उनके पास कम से कम पंद्रह बीस करोड़ रुपये थे नकल उनमें से चौवन इसमें जो बात सकता पर शांति नाम की वस्तु उनके अंदर नहीं थी बिल्कुल नहीं अब घंटा चालीस मिनट बैठे मेरे पास ऐसी ऊपर से दिखला देना कि मैं बिल्कुल चुपता शून्य हूँ मुझे तो कोई भी दुख नहीं है मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस तरह से नाटक के पात्र की तरह से हम बन सकते हैं और छाती पर हाथ रख करके देखें कि हमारा सुख सचमुच कितनी देर कैसे रहा